नवनीतदावा सीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोषा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात्वरं किमपि तत्त्वमहं ददामि शङ्करं रुद्रभाष्यकृतौ वंदे भगवत पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविकारिणि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शांति शांति अष्टादशोऽध्याय अर्जुन

त्याजं दोषवदित्येके कर्म काहुर्मनीषा यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमः त्यागो हि पुरुषव्यास त्रिभिः संसपेतिरः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनुष्यः एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहास्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयाचरे सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म क्रियते सर्वं त्यक्त्वा चैव स त्यागः मतः न कर्म कुशलेनानुषज्यते राजीतत्वसमादिष्टो मेघादिच्छिन्न संशय नादिदेहभृता शक्यम् त्यक्तुम् परमान्यशेषता यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टम् मिश्रम् च जीवितम् कर्मणाम् फलम् भवत्यत्यागिनाम् प्रेत्य न तु सन्न्यासिनाम् क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निरोधमे साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानम् तथा कर्ता कारणम् च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक्तेषा दैवम् चैवाच पञ्चमम् शरीरमामनो न्यायं वा विपरीतं सति कर्ता तस्य हेतवः तत्रैवं सतिकर्तारमात्मानं केवलं तुयः पश्यस्य कृतिरौद्येत्वान्न स पश्यति दुर्मति यस्य नामं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्मसङ्ग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः रोचते गुणसञ्चाने यथा वशृणुतान्यति सर्वभूतेषु येनैकं भावमप्यनुमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु सज्ञानं विद्यशातिकम् पृथक्त्वेन प्रियज्ञानं नानाभावान् पृथक् विना वेत्ति सर्वेषु भूतेषु सज्ञानं विद्यराजसम् यन्तु कृष्णवदे तस्मिन् काले अपरेशुना कर्म यमुच्यते यस्तु कर्म साहंकारेण वा पुनः एते बहुलायासं तद्राजसमुदारसम् अनुबन्धं क्षयं हिंसा मनवेक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गोऽहं वाजे धृत्युत्साहसमन्वितः

प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिम् बुद्धि यया धर्मो धर्मम् च कार्यम् अकार्यमेव बुद्धि सा पार्थराजसि अधर्मम् धर्ममिति या मन्यते सर्वार्थान् विपरीतान् च बुद्धितापार्थतामसि निरुत्यागधारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रिया योगिनाव्यभिचारेण धृतेतापार्थताप्यते ययास्तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतेशापार्थराजते यया स्वप्नं वयं शोकं निषादं मदमेव च

सत्सुखम सात्विकम प्रोक्त आत्म बुद्धि प्रसादजम तत्सुखम सात्विकम बुद्धि प्रसादजम विषयेन्द्रिय संयोगा व्यस्तग्रे मृतोपम विषयेन्द्रिय संयोगा मृतोपम

समोदमस्तप शौचं शान्तिरार्जवमेव ज्ञान ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् शौर्य तेजो धृतिर्दाक्षं युद्धे चाप्यपलायनम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षं युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वर भावश्च छात्रं कर्म स्वभावजम् दानमीश्वर भावश्च छात्रं कर्म स्वभावजम् कृषिगौरक्ष परिचर्यात्मक कर्म शुद्र स्वभावजम कृत्य कर्म निभित संसिधि लभते नर सकर्म निरत सिद्धि यथा विंदति तत्ण यत प्रवृत्तिर्भूताना येन सर्विदम ततम सकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विंदति मानव श्रेयान

असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत प्रिय नैष्कर्म सिद्धि परमा संन्यासेनाधिगछति सिद्धि प्राप्त यथा ब्रह्म तथा निबोधन समासे नैव निष्ठा ज्ञान से या परा समासे नैव कौंतेय निष्ठा ज्ञान से या परा

ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित अहंकार बलम दर्पम काम क्रोधम परिग्रह विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते शोचति न कांक्षति ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सर्वे सर्वेशु भूतेषु मध्वक्ति लभते पराम सर्वेशु भूतेषु मध्वक्ति लभते पराम भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशति तदनन्तरम्

दुर्गा मत्प्रसादा करिष्यति अथ चेत्तमहङ्कारान् न शोष्यति विनश्यति यदहङ्कारमाश्रित्य न युत्स्व व्यवसाय से प्रकृति सर्वव्यवसायस्ते प्रकृतिस्थानियोच्यति कौंतेय नि

ईश्वर सर्वभूतान हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया तमेव शरण गच्छ सर्वभावेन भारत मत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यति शाश्वतम्

कदाचन न च शुश्रूषवे वाक्यं न च न योग्य श्रूयति यमं परमं गुह्यम् मद्भक्ते स्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे विश्वस्य संशयः न च तस्मान्मनुष्यसु पश्चिन्मेद्यकृत्तमः

कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोह प्रणष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृति लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव परिषे वचनं तव हो गया था सप्तम अंकल है नित्य कर्मणाम अवश्य कर्तव्य उत्तम उपजीव्य अपेक्षित पुरयन अनंतर श्लोकम अवतारयती नित्य कर्म अवश्य ही करना चाहिए अवश्य कर्तव्यतम ये कहा गया इसको आश्रय करके आगे अपेक्षितम पूर्ण कुछ अपेक्षित है पूर्ण करते हुए आदि का श्लोक अवतरण करते भगवान भाष्य का तस्माद अज्ञात से अधिक से मुख्य जो अज्ञानी कर्म में अधिकारी मनुष्य उसके लिए कहते हैं नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः नियतस्य तु कर्मणः संन्यासो नोपपद्यते नियत तो नित्य कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए जो कर्म में अधिक रहते हैं अवश्य ही कर्म करना चाहिए क्योंकि पवित्र करने वाले सबसे मुहात परित्याग काम से परिचित सबसे नित्य कर्म का परिचयाग मोह से और ज्ञान सविवेक से उसको काम से कहा जाता है ठीक है नाम नियतम नियतमति कर्म त्यजन उपलब्ध होते कोई कोई दिखता है नित्य कर्म छोड़कर रहते अज्ञानी बनते हुए इसे मोहात परित्याग तामस हाँ, नियत से नित्य से नियत का नित्य संन्यास का परित्याग कर्मण नोपद्य इसके लिए अज्ञान से पावन प्रशिष्ट था तो अज्ञान के लिए पवित्र करने वाले नित्य कर्म युक्त है मोहात अज्ञात नियत से परित्याग कोई नित्य कर्म का त्याग करता है तो मोहात मोहात का अज्ञान अज्ञान क्या है अज्ञान पावन का परिज्ञान नित्य कर्म पवित्र करने वाले शुद्ध करने वाले इसके अज्ञान से तो त्याग कर देता है तो तामस है अज्ञ नित्य कर्म त्याग मोहादि चेतद उपादित अज्ञानी नित्य कर्म का त्याग करते है मोह से ये पावन है पवित्र है शुद्ध करने वाला ऐसा अज्ञान से कर्म त्याग कर देता है इसके प्रति प्रतिपादन करते नियतम तो अवश्य कर्तव्य त्यज विषय नियत का अवश्य करना चाहिए और क्या कर किया जाता है तो विरुद्ध होने से अज्ञान से संभव है नित्य प्रसिद्धम अतो मोह निमित्त परित्याग मोह के कारण परित्याग है तामस परिचित मोह सतम मोह ही समय नित्य कर्म त्याग से मोह कृत नित्य कर्म त्याग मोह अज्ञान से है तो तामस क्यों हुआ मोह सतम तो कम ही मोह इसलिए मोह से अविवेक से जो त्याग है और तामस है इतस्य नित्य कर्म त्यागो नाज्ञ से संभवती क्या नित्य कर्म त्याग अज्ञानी के लिए नहीं संभव नहीं जो सर्वकर्म संन्यासी ज्ञान मार्ग में स्थित है वह तो उसके लिए ज्ञानी के लिए किन्तु अज्ञानी कर्म में अधिकारी उसके लिए नित्य कर्म त्याग न संभव किंच दुख मित्यव यम काय क्लेश भया त्यजेत शत्रुराज संत्यागम न्याग फल लभेत दुःखमित्येव यत्कर्म कार्यक्लेशभयाच्यते चतुर्द्वादशसंत्यागं नैव त्यागफलं भवेत् यत्कर्म दुःखमित्येव कायक्लेशभया त्यजेत् स त्याग कृत्वा नहीं बल गए जो कर्म त्याग करते है दुख में कर्म दुखम इतव ये जनक है इसलिए कार्य कैसे शरीर कैसे भय से त्याग करते हैं राजस्व त्यागन कृत त्याग फल प्राप्त नहीं करता दुख मुख्य ठीक है नहीं नहीं मोहम विनय वो दुखात्मक कर्म काय कैसे तो रहते पूर्व श्लोक में कहा मोहा कैसे तो परिचय काम से अभी पूरा तो किसी कहता है मोह के बिना अज्ञान नहीं समझते है अंतगुण सिद्धि का जनक है जानने वाले भी वो दुखात्मक कर्म है उठ करके पास संध्या आदि करना है कठिन कष्ट है इसलिए काय क्लेश भया ठंडी के समय उठकर स्नान करके संध्या करना काय क्लेश भय इसको क्या कर देते करना नहीं कार्य में जनयंती साम्यंती दीजिए इंद्रिय भी कार्य करके शांत होते हैं तथा तो सत्याग तामस तथा से न सत्याग तामस पूरा भी सिखाता है तामस नहीं और तो समझता है शरीर में कष्ट होता है और कर्ण शांत हो जाते हैं इसे जो क्या करता है कोई वो तो काम तो ठीक नहीं तथा ऐसा कहने से कहते दुखम इतव कर्म कार्य को सब है दुख ही समान कर जो क्या करता है ठीक है यम दुखात्मकम असत्य साध्यम इतव आलोच्य जो समझता है कर्म दुखात्मक है तो साध्य असत्य ठंडी में उठकर स्नान करके संध्या करना कठिन है कष्ट ऐसे विचार करें तत्व तो निर्भर करते ऐसे निवृत्त हो जाता है देह से इंद्रियान से क्लेशात्म भगा देह के क्लेश होगा इंद्रियों का कष्ट होगा इस भय से त्याग कर चाहते थे सब तक त्यक्ता उस कर्म का त्याग करके और त्याग कैसा रजो निमित्तम त्याग रजो गुण के कारण त्याग करता है कुछ भी न तत्फलम लक्ष्य लभते त्याग का फल जो मुख्य प्राप्त नहीं करता किंतु कृतन न त्याग न तद अन्वय को नरकम प्रतिपदेश क्या जो राजस्व त्याग करता है भीत कर्म त्याग करता नहीं करता पाप होता है उसके अनुसार नरक प्राप्त करेगा एक कहते भाष्य में दुखम इतव यद कर्म काय कैसे भया काय यहाँ शरीर इंद्रिय शरीर दुख भया त्यजे परित्यजित क्या करता है सत्य क्या राजस्व त्याग राजस्व रजो निर्वृतम रजोगुण से होता है त्याग उसे त्याग करके नहीं वो त्याग फलन प्राप्त नहीं करता है त्याग का सफल तो होता है ज्ञान पूर्व सर्वकल संन्यास उसका फल मोक्ष है उसको प्राप्त नहीं करता है ये शास्त्री का त्याग नहीं राधे का त्याग अभी शास्त्री का त्याग कहेंगे शास्त्री का त्याग करने पर उसका त्याग का फल है ज्ञान का सर्वकर्म संन्यास उसका फल मोक्ष प्राप्त करता है राजस्व त्याग करने पर ज्ञान पूर्वक से सर्वकर्म त्याग से फलम से क्यों न लगे शिक्षा समीप का नहीं लगे कर्म त्याग तामस से से विविध दर्शित मोह से त्याग तामस का और सहायक है त्याग राजस्व का संप्रति सात्विकम त्यागम प्रश्न पूर्वकम वर्णय सात्विक त्याग कथन करके प्रश्न करके कह पुण्य सात्विक त्याग ये प्रश्न हो इसका अर्थ कार्य मित्रेव यत्कर्म नियतम क्रियतेर्जुन संगम त्यक्ता फलम चैव सत्याग सात्विको मत संगम त्यक्ता फलम चैव सत्याग सात्विको मत कार्यमित्येव कर्म कार्य क्रिय क्रियते संगम से सफल से संगम से सफल से क्रियते नियतम यत कर्म कार्य से संगम तथा फलम से क्रिय सत्याग क्रियते सत्यागत नित्य कर्म क्या जाता है कर्तृत्व अभिनय संग आसक्ति छोड़ करके और फल इच्छा छोड़ करके किया जाता है नित्य कर्म किस लिए किया जाता है कार्य नित्य कर्तव्य शास्त्र में विहित है ये मेरा कर्तव्य मान कर किया जाता है फल इच्छा त्याग करने से वह त्याग है शास्त्री का त्याग कर्म करता है फल इच्छा नहीं करता है और संग भी छोड़ देता है कर्तव्य नित्य कार्य में कार्य कर्तव्य में कार्य कर्तव्य नित्य कर्तव्य नित्य एवं कार्य है इतम एव कारण नित्य भाव्यांतरण निषिध्य थे अन्य कुछ नहीं कर्तव्य में करना ही है अन्य कोई साध्य नहीं करके कुछ बाद में करेंगे अन्य कुछ कर लेंगे नित्यकरण नहीं हम दूसरे कुछ कर लेते हैं वो तो नहीं अवश्य करना है नित्यानाम विद्युत के फलाश्रवनाथ तेषा फलम तत्म इत्यासन कहा भाष्य में कहते यथकर्म नियतम नित्यकर्म क्रियते का निर्वर्त्यते संपाद्यते है अर्जुन अनुष्ठ्यते संगंतरता तो फलम से संग आसक्ति कर्तृत्व अभिनिवेश और फल इच्छा क्या कर पूरे किसी कहता तो निश्चय का तो कोई फल नहीं विधि जैसे विधि वाक्य में विधि वाक्य में फलाश बढ़ाएगा जैसा तो, हम फलन करता जिसका फल नहीं तो फल क्या कैसे होगा ऐतम इसे आशंका से कहते नित्यानाम कर्म नाम फल बच्चे भगवत बचन प्रमाण अवदान ये भगवान का वास्तविक प्रमाण है यज्ञ दान तपकर्म न त्याग पावनानी मनुष्य का ये पवित्र करने वाले यही फल बचे अंतकरण शुद्धि करके पवित्र करते हैं तत्व विधान चरण तात्पर्य महा अन्य प्रकार तात्पर्य कहते फलन तत्व भगवान भाष्यकार अथवा यद्यपि फल न श्वेत नित्य कर्मण तथा नित्यम कर्म कृतम आत्मसंस्कार संस्कार तत्वा परिहार फलम करोति आत्मान कल्पित वाक्य यद्यपि श्रुति में नित्य कर्म का फल नहीं कहा गया फलम न स्वते नित्य से कर्म सुख में नहीं कहा गया फिर भी नित्यम कर्म कृतम नित्य कर्म कृतम तो मतलब अनुष्ठितम यदि किया गया आत्म संस्कार प्रत्यय परिहार व फलम करेगी आत्मा अंतकरण शुद्धि करेगा आत्मा का संस्कार अंतकरण शुद्धि प्रत्येगा पाप का परिहार नित्य कर्म नहीं करने से पाप होता है करेंगे तो प्रत्येगा का परिहार होगा ये फल करे आत्मा इसी अज्ञान कल्पना करता है इसका फल अजय बुझे आत्मा शुद्ध करेगा प्रत्यय का परिहार होगा यह तत्र तामसी कल्पना निवार फलम त्यक्ता जो नित्य कर्म करता है ये कल्पना कुछ नहीं कर्तव्य करके मान कर करना है ध्येय होगा प्रत्यय परिहार ये कुछ नहीं ये कुछ कल्पना नहीं करके फलम त्यक्ता इत्यादि फलम त्यक्ता खाने का अभिप्राय कोई फल इच्छा कल्पना भी नहीं करना ये तो कर्तव्य है विहित है कर्तव्य इसी हिसाब से करता है टीका में नहीं न कृतम कर्म अनर्थकम विधि के द्वारा किया गया कर्म अनर्थक नहीं हो सकता विहित कर्म उसके अनुष्ठान करेंगे तो अनर्थक नहीं होगा विधि अनर्थक है ऐसा मानेंगे तो विधि अनर्थक हो जाएगा तो न स्वयं फलाभारी थी सुकृत फल नहीं होने पर भी नित्यम कर्म विधि से अनुतिष्ठन विधि से अनुष्ठान करने पर आत्मान अजानन अनुपहत मनुष्य तस्मिन कर्मणि आत्म संस्कार फलम कल्पयती अनुष्ठान करता हुआ आत्मान अजानन अज्ञान अनुपहत मनस्तुत्या इस स्थिति में कहा गया अनुपहत मनस्तम ऐसा कहा गया मधुसूदन मधुसूदन टीका में न पापम अपनिदति कथित तस्मा धर्म परमं वदंती ये न केचन जयता होने अनुपहत मनाय अनुपहतम मनोयज्ञ अनुपहत मना उपहत मन नहीं होता किसी उपहत पीड़ित ग्रस्त नहीं होता शुद्ध होता है ये जो अनुपहत मना भवती देवयाजी श्रेयान आत्मयाजी इति आत्मयाजी है गुरुयात सह वे आत्मयाजी वे वेदम में अंग ये अंग संस्कृत होता है ये अंग इससे संस्कृत होता है इसे आत्मयाजी कहते इत्यादि स्थिति में एक अनुपहत मनाय अनुपहत मन एक अनुपहत मनस्व उसको टीकाकार कहते हैं आनंद गिरी अनुपहत मनस्थ क्या अनुष्ठान करेंगे तो मन उपहत नहीं होता है पाप से युक्त नहीं होता है शुद्ध होता है ये तस्मिन कर्मणि आत्म संस्कार आत्मा अंतकम शुद्धि फलम कल्पित ज्ञान तद प्रत्यवाह स्मृत नहीं करें तो प्रत्यवाह स्मृति में कही गई कहा गया है तत्करणम कर्तूर आत्मना निवृत्ति करोती तत्कर्ण इसलिए इस स्मृति के द्वारा कर्तु आत्मन अं, तत्कर्ण अनुष्ठान करना निवृत्ति करोती इसी बात नित्य कर्मणि कर्तु आत्मन तनिवृत्ति करो तनिवृत्ति मतलब प्रत्यानिवृत्ति जो नित्य कर्म करेगा अपने प्रत्येक निवृत्ति करेगा नित्य कर्म इसी नित्य कर्मणि उत्तम कल्पना अनुष्पादित फल कर्म जैसे कर्म है कल्पना है कर्म में ये कल्पना है कि को शुद्धि करेगा प्रतिभा परिहार करेगा अनुनिष्पादित फल कल्पना उसके पश्चात फल कल्पना भी इस करेंगे तो प्रतिभा नहीं होगा ये जो फल कल्पना है इसके तत्वा इसे अन्य भगवान निवारेगी ये कल्पना और कल्पना के अनुसार फल ये दोनों कल्पना को ही भगवान निवारण करते फलम चर्चा कहते संगम चर्चा फलम चेगा ये विभिन्न प्रकार कल्पना है इससे अंतगुण शुद्धि आगे फल है पर नित्य कर्म परिहार होगा ये कल्पना भी नहीं करे छुट्टी में नहीं कहने पर भी कुछ ना कुछ कर्म फल है इसी फल इच्छा कल्पना का त्याग करने के लिए फलन त्याग तो कहा गया नित्य कर्म से फल त्याग से संभव है फलित न तो नित्य कर्म में फल त्याग से संभव है क्योंकि फल कल्पना करता है ज्ञान सब तो फल नहीं होने पड़ेगी और फल तो फल भी स्मृति में स्मृति में कहा गया नित्य कर्म फल है अफल नहीं अतो अतः साधुतम संगम चर्चा फलम से इसलिए जो कहा गया संगम चर्चा फलम से वो ये साधु यथार्थ कहा गया इसके अगर आक्षेप हुआ पूरे पक्ष ने कहा फल नहीं कैसे फलम चर्चा तो कहते फल तो है फलवत्व भगवत फलवत्व भगवत वचन प्रमाण कहा सावना स्नान और फल नहीं होने पर भी अज्ञानी फल कल्पना करता है विहित कर्म निष्फल नहीं हो सकता है अंत शुद्धि प्रतिभा परिहार ये फल कल्पना करके ये फल इच्छा करके कर्म करता है ये दोनों को वारण करने के लिए फल क्या कहा गया यथार्थ कहा गया प्रत्याग नित्य कर्म से संघ फल परित्याग ये त्याग करता है नित्य कर्म तो करता है संघ फल परित्याग करता है संग इच्छा आसक्ति कर्तृत्व अभिनिवेश और फल इच्छा दोनों का त्याग को तो सात्विक सत्य निर्भूत सत्य गुण से संपन्न होता है मत का तो अभिमत ठीक है कर्म तत्फल त्याग से त्याग संन्यास शब्दाभ्याम प्रकृत त्याग और संन्यास दो शब्द से प्रकृत है कर्म और तत्फल त्याग त्यागे ही त्रिविध त्रैविध्यम प्रतिज्ञा है त्याग त्रिविध कहा प्रतिज्ञा अनुरोधन देव विधेय वित्ताद्य प्रतिज्ञा के अनुसार देव त्याग कर्म का त्याग बताया तृतीय विधान तद विरोधन वित्तादेत दो प्रकार त्याग कर दिया कर्म त्याग दो कह करके तामस राज से कह करके तृतीय त्याग से इसके विरुद्ध में विस्तारण करते हुए भगवत अकैफलम आपतितम इसे संकट पूर्व पक्ष शंका करता है पूर्व पक्षी दुए तो राजे सत्याम कर्म का बता दिया अपृत्य त्याग कर्म त्याग नहीं क्या कर कर्म करने के लिए फल त्याग कहते हैं ये भगवान का कोई फल कुशलता का अभाव ऐसा शंका करता है पूरे व्यक्ति मैंने कर्म परित्याग त्रिविध संन्यास प्रस्तुत त्रिविध कर्म परित्याग संन्यास शब्द से कहा गया ये प्रकरण में है तथा तामस राजस से उत्तर त्याग तामस त्याग राजस त्याग कर्म त्याग कह दिया कथनीय संघ फल त्याग तृतीय अनुच्छेद कर्म त्याग प्रकृत है त्रिविध कर्म त्याग दो प्रकार का कर्म त्याग राजस से कह करके तृतीय कर्म त्याग नहीं कह करके संघ फल त्याग कहते ठीक है ये विरुद्ध कैसे होता है ठीक है प्रक्रम प्रतिकूलम उपसंहार वचनम अनुचितम प्रक्रम उपक्रम आरंभ आरंभ हुआ प्रकरण तीन प्रकार कर्म परित्याग है तीन दो राजस्व तामस कर्म त्याग कह करके तृतीय कर्म त्याग नहीं कह करके संघ फल त्याग कहते तो क्रम के प्रतिकूल हो उपक्रम के विरुद्ध होगा उपकार तो बचन ये तो ठीक नहीं अनुचित इसमें दृष्टान्त देता है रूपसी यथा त्रय ब्राह्मण आगता कोई कहता है तीन ब्राह्मण आए सत्र सड़ंग विदय दो क्षत्रिय तृतीय इसी तीन ब्राह्मण आए दो के अंग को जानने वाले और एक तृतीय क्षत्रिय तीन ब्राह्मण है कह करके दो सड़ंग विधि हाँ अन्य सड़ंग विधि तो नहीं जानता है ब्राह्मण ये तो कह सकते और तृतीय अन्य क्षत्रिय तृतीय यदि क्षत्रिय तो त्रय ब्राह्मण आ जाता कैसे बनेगा जिस प्रकार तीन ब्राह्मण आए दो सड़ंग विधि और तृतीय क्षत्रिय ऐसा कहना उपक्रम के विरुद्ध ठीक इस प्रकार तीन प्रकार कर्म त्याग प्रतिज्ञा करके दो राजस्व काम से कर्म त्याग करके तृतीय त्याग को फल त्याग करते संग त्याग करते कर्म त्याग नहीं करते विरुद्ध होता है ठीक है पूर्वोत्तर विरुद्ध है न प्राप्तम अकौशलम प्रत्यादि सती पूर्व और उत्तर विरोध होता है प्रतिज्ञा है कर्म त्याग तीन प्रकार और कहते समय दो प्रकार कर्म त्याग राजस्व त्याग कह करके तृतीय त्याग कर्म त्याग नहीं करके संग फल त्याग कहते तो अकौशल प्राप्त हुआ इसका निराकरण करता सिद्धांत नहीं तो दोष ये दोष नहीं त्याग सामान्य स्तुत्यर्थत्वाद जैसे कर्म त्याग चल रहा है ये संगम चर्चा फलम से कहा करे ये भी त्याग करता है संग और फल को त्याग सामान्य दोनों में रहा कर्म त्याग में और फल त्याग में त्याग सामान्य से इसकी स्तुति करने के लिए जो कर्म करता है फल संग छोड़ करके ये राजस्व काम से त्याग के पीछे सत्य स्तुति के लिए कहा कर्म त्याग फल त्याग त्याग तेन साध्य त्याग दोनों में त्यागत है कर्म त्याग में त्यागत तो फल त्याग में त्यागत है साधु सेवा कर्म त्याग निंदया तत्फल त्याग सुमितम यहाँ फल त्याग को सात्विक त्याग कहा गया इसलिए कर्म त्याग की निंदा करके फल त्याग करना चाहिए को सगमात ये वचन ऐसा मानने से न विरोध अच्छी कोई विरोध नहीं कर्म राजस तामस कर्म त्याग नहीं करके कर्म अनुष्ठान करे फल त्याग करे तो सात्विक त्याग होगा ये स्थिति के लिए कहा गया इसे उत्तम व्यक्ति कुरन जो कहा गया उसको स्पष्ट करते हुए आदो त्याग सामान्य विषद पहले भगवान भाष्यकार दिखाते हैं कर्म त्याग और फल त्याग में दोनों में सामान्य साधु से त्याग है उसको स्पष्ट करते हैं भाष्य में अस्थि कर्म संन्यास फलाभिसंधि त्याग सत्य त्यागत्म सामान्य कर्म संन्यास में भी त्यागत्य है और फल इच्छा त्याग में भी त्यागत्य दोनों में समान समानता है सती सामान्य निर्देश से स्थिति अर्थम समर्थ है थे दोनों त्याग के सामान्य होने पर फल त्याग के जो यहाँ त्याग शब्द से कहा गया स्थिति के लिए समर्थन करते भगवान वास्यकार तथा राजस तामसत्व कर्म त्याग निंदया कर्म फलाभिसंधि त्याग सात्विक सूयते सत्याग सात्विक मत राजस तामसत्व कर्म त्याग की निंदा की गई राजस्व का कहा गया मोहात्म से परित्याग तामस है कार्य को सब भया तेजित राजस्व त्याग था ऐसा कह करके कर्म त्याग की निंदा करके तृतीय त्याग होते कर्म फल अभिसंधि त्याग कर्म फल की इच्छा त्याग करने के लिए कहते उसको साप्ती को कहते साप्ती को कहकर उसकी स्तुति करते फल त्याग को साप्ती को कहते फल त्याग सब त्याग साप्ती को मत कह करके इसलिए यहाँ प्रकरण है सात्विक त्याग करने के लिए स्तुति करते हैं राजस सामस की निंदा करके इसे इसको भी त्याग तो सामान्य न एक साथ त्रिविध त्याग में कहा गया है कार्यमित्येव एवं पूर्वापर विरोधम पराकृत्य अनंतर श्लोक तात्पर्य मार्ग पूरापर विरोध पूर्व किसी ने शंका की तीन प्रकार कर्म त्याग आरम्भ करके जो कर्म त्याग राजस तामस कहा और भगवान तृतीय को फल त्याग करते हैं विरोध होता है उसका निराकरण क्या यहाँ त्याग के तो सामान्य न सात्विक त्याग स्थिति की गई कर्म त्याग के अपेक्षा फल त्याग ही सत्य है ये कहा गया अनंत श्लोक का तात्पर्य कहते भगवान भाष्यकार यस्तु अधिकृत संगम त्यक्ता फलाभिसंधि नित्यम कर्म करोति तस्य फलरागादिना अकलुषि क्रियमान अंतकरण नित्य कर्म भी संस्क्रियमाण विशुद्ध जो अधिकारी कर्म है अज्ञान संगम त्यक्ता फलाभिसंधि होकर संग छोड़ करके और फल इच्छा का क्या करे कर्म में आसक्ति का कर्तृत्व अभिनिवेश का त्याग करके फल इच्छा का त्याग करके जो ज्ञानी अधिकारी नित्यम कर्म करेगी नित्य कर्म अनुष्ठान करता है विधि के अनुसार तत्व फल राग आदि न अकल्प क्रियमाण करना फल में राग इच्छा के द्वारा अंतकरण कलुषित होता है दूषित होता है आसक्ति फलराग से अंतकरण अशुद्ध होता है राग आदि न अकलुषित अंत अंतकरण कलुषित नहीं क्योंकि फल इच्छा त्याग कर दिया आसक्ति का क्या कर दिया शुद्ध अंतकरण नित्य कर्म भी संस्कृमान नित्य कर्म के द्वारा संस्कार से युक्त होकर के विशुद्ध विशेष शुद्धि को प्राप्त करता है अंतकरण ठीक है फलरागा आदि ना इसमें आदि पद दिया आदि शब्द न कर्म स्वरूप आसंग भी रहते कर्म स्वरूप नाशिक संगम करता अंतकरणम अकलुषी क्रियमाणम इति छेद अंतकरणम कल रागादिना कलुषी क्रियमाण अवग्रह नहीं रहे तो कलुषी क्रियमाण से बहुत होता है अकलुषी क्रियमाण में सब अवश्य विशुद्ध अंतकरण किम क्या क्या अंतकरण शुद्ध हो जाए तो क्या होगा ऐसा संक्रांत से कहते विशुद्धम प्रसन्नम आत्मालोचन क्षमम होती जो प्रसन्न अंतकरण शुद्ध नहीं आत्मा का आलोचन विचार के लिए समर्थ नहीं होता जो प्रसन्न स्वच्छ होता है शुद्ध होता है अंतगण आत्मा विचार के लिए समर्थ होता है मल विकल्पम विशुद्धत्वम संस्कीर्णात्म प्रसन्नतम के भेद मल विकल्पम विशुद्धत्वम प्रसन्नतम के विशुद्ध है मल विकल है प्रसन्न संस्कार युक्त हुआ भाष्य में विशुद्धांतकरण से आत्मा ज्ञान अभिमुख से अभिमुख से कर्मेण यथा तनिष्ठा क्या तद वक्तव्य नित्या नित्य कर्म अनुष्ठान में विशुद्ध अंतकरण से विशुद्धम अंतकरण से मनुष्य का आत्मज्ञान अभिमुख से आत्मज्ञान के अभिमुख होता है कर्मेण यथा तनिष्ठा क्या आत्मनिष्ठा जैसे कर्म से होगी उसको कहना इत्या क्रमेण भाष्य में कहा क्रमेण यथा तनिष्ठा क्रम कैसे टीका में श्रवण आदि आवृत्ति द्वारा यही नित्य कर्म अनुष्ठान से अंत को शुद्ध होने पर आत्मज्ञान अभिमुख होगा और क्रम से निष्ठा होगी क्रम का श्रवण आदि की आवृत्ति श्रवण मनन विज्ञासन आवृत्ति रसक के ब्रह्म ब्रह्मसूत्र में निश्चय किया गया आवृत्ति करनी चाहिए श्रवण आदि आवृत्ति द्वारा बार बार आवृत्ति करे निष्ठा होने तक सनिष्ठा सनिष्ठा का आत्मज्ञान निष्ठा आत्मज्ञान निश्चित तो हमेशा अखंड ब्रह्माकार बुद्धि हो तब साक्षात्कार होता है काम्य तो कर्मणि त्याज्य से न देशम अभिनय भाष्य श्लोक न दृष्ट कुशल कर्म कुशल नानुसजते त्यागी सत्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशय कुशलम कर्म कुशले नानुसजते छिन्न संशय मेधावी सप्त समाविष्ट त्यागी अकुशल कर्म न दृष्टि कुशल नाम सत्य मेधावी मेधावान जिसको ज्ञान हुआ उसका संशय नष्ट हो गया छिन्न संशय ऐसा जो मेधावी छिन्न संशय सप्त समाविष्ट सत्य है विवेक ज्ञान हेतु आत्मानात्म विवेक ज्ञान हेतु तो से युक्त है ऐसे त्यागी जो कर्तृत्व अभिनय और फल त्याग करता है अकुशलम कर्म न देखती कुशल नाम से अकुशल कर्म काम्य कर्म का देश नहीं करता है कुशल में आश्रित नहीं करता है फल इच्छा रहित होकर कर्म करता है ये काम्य कर्म भी फल इच्छा रहित संग त्याग करता है तो भी अंतर्गण शुद्धि का जनक तो हो जाता है वो तो काम्य तो नहीं कहा जाएगा न देशती अकुशलम कर्म अकुशलम अशोभनम अशोभनम कौन है काम्य कर्म काम्य कर्म अशोभन क्यों है आरंभ द्वारा न संसार कारण ये शरीर आरंभ करता है काम्य कर्म स्वर्ग प्राप्त हो नर्ग प्राप्त हो स्वर्ग बनता है संसार कारण होता है उसका देश करता है अज्ञान कैसे की माने ना एवं इस प्रकार देश जो छिन्न संशय भी कोई सा देश नहीं करता है टीका में काम्य कर्म ने त्याज्य देशम अभिनय थे काम्य कर्म त्याज्य है देश कैसा है अभिनय कर बताते क्यों माने ना इसे क्या प्रयोजन है इसे कुशल शोभन नित्य कर्मणि सप्तति ज्ञान उत्पत्ति तनिष्ठा हेतु तो न मुख्य कारण इधम इत नाम सज्ज सज्जते उसमें आसक्त नहीं होता है कुशल कर्म नित्य कर्म है कुशल क्योंकि संसार आरंभ का नहीं है नित्य कर्म में अनुसंग अनुसक्ति आसक्त होने का कारण क्या है सत्य शुद्धि ज्ञान उत्पत्ति पर निष्ठा कहती पर नित्य कर्म करें तो अंतकर्म की सिद्धि है फिर ज्ञान उत्पत्ति ज्ञान में निष्ठा उसका हेतु है उनसे मोक्ष का कारण नित्य कर्म इदम इतम नानुसभ्यते क्यों नहीं अनुसरती तत्रापि प्रयोजन वचन जिससे ज्ञान हो गया उसमें भी प्रयोजन नहीं अनुसंगम प्रीति न करोगे इत अनुसंग प्रीति नित्य कर्म नहीं करता है काम कर्म का द्वेष नहीं करता है ठीक है उभयत्र द्वेषम प्रीति का न करो प्रीति सामान्य नुक्तम उभयत्र काम कर्म में द्वेष नहीं करता है नित्य कर्म में प्रीति नहीं करता है सामान्य कहा गया कर्तारम प्रश्नपूर्वक विशेषत्व निर्देशक ऐसे करने वाले कर्ता कौन है प्रश्न करके स्पष्ट करते वास्तव में कह पुनः वो कौन है सा जो द्वेष नहीं करता है काम्य कर्म और नित्य कर्म में आसक्त नहीं करता है कौन है कहो सुना उसका उत्तर देते त्यागी त्यागी सबको समाविष्ट उत्तराधे त्यागी पूरे कहने संग फल परित्याग न सदभान तो त्यागी पहले जैसे कहा नित्य कर्म करते हुए कर संग और फल कर्तृत्व अभिनय से और फल इच्छा त्याग करके सदभान नित्य कर्म करता है वो त्यागी त्यागवान त्यागी ठीक है त्यागी तीर्थम त्यागिन अभिव्यनति त्याग के अभिनय करके पूर्वोत्तम संग फल पर त्यागन तदवा कर्म में संग से तत्फल से तो त्यागन त्यावत कर्म में संग आसक्ति कर्तृत्व अभिनय से उसका फल त्याग करने से तदवान त्यागी उत्तम एवं त्यागिनम विवृणती और तो त्यागी का ही कथन करते यह कर्म ही संगम त्यक्ता तत्फल नित्य कर्म अनुष्ठाई तो त्यागी कर्म में संग और फल का त्याग करके संकल्प तत्फलम च प्रकार से चक्र नित्य कर्म अनुष्ठाई नित्य कर्म अनुष्ठातम शीलम यसे नित्य कर्म अनुष्ठाई स्वभाव तभी कर्तव्य मान कर नित्य कर्म करता है वही त्यागी ठीक है तत्फलम तत्या संबंध संगम चर्चा तत्फलम चकार से चर्चा का संबंध करना काम्य निषिद्ध कर्मणि बंधे तरीके न व्यक्ति काम्य कर्म बंध का हेतु निषिद्ध कर्म भी बंध हेतु उसमें देश नहीं करता है नित्य नैमित्य करके मुख्य हेतु न प्रिय नित्य कर्म नैमित्य कर्म मुख्य का हेतु परंपरा से अंतकम शुद्धि ज्ञान प्रतिनिष्ठा हेतु होकर किन्तु उसमें प्रीत नहीं करता है ज्ञान तत्र काल विशेषण पूछते किस समय से काम्य निषिद्ध कर्म में देश नहीं हो नित्य नैमित्य कर्म प्रीत नहीं हो किस समय पूछते हैं पदार्थ न रखते अकुशल कर्म न देती कुशल नानुसजते यह त्यागी सत्य समाधिष्ट है अकुशल कर्म काम में निषिद्ध कर्म का द्वेष नहीं करता है नित्य नित्य कर्म में आसक्त नहीं होता है वो कवल ठीक है नित्यादि कर्म न फलादि संधि वर्जित न क्षपित कर्म सत्य सत्व यथार्थ ग्रहण सामर्थ्यम उद्बुद्यते तेन समावेश दशायाम उत्तर प्रीति देश अभाव होती क्या उच्यते का उच्यते इति क्या कहते नित्यादि कर्मणा नित्य आदि सन्निहित कर्म के द्वारा फलादि संधि वर्जित है ना जो फल इच्छा रहित तो नित्य आदि निहित कर्म के द्वारा क्षपित कर्म सत्य क्षपिता कर्म सानियत पाप नष्ट हो जाते हैं अंतकर्ण से कलुषित राग दिशादि नष्ट हो जाते हैं तो सत्यम यथार्थ ग्रहण सामर्थ्यम उद्बुद्ध उसका सत्य गुण उद्भुत हो जाता है सत्वगुण उद्भूत प्रकट होने यथार्थ ग्रहण का सामर्थ्य ही है यथार्थ ज्ञान होता है सत्वगुण अधिक होने से सत्ता संजात ज्ञान सत्वगुण उद्भूत होने पर भी ही यथार्थ ज्ञान होता है ये सामर्थ्य सत्य तेन समावेश दशाया सत्य समावेश दशाया सत्य समाविष्ट सत्य न समाविष्ट सत्य से युक्त उत्तर प्रीति देश और अभाव नित्य निमित्त के न प्रीति कामुनी से देना देश इतना उच्यते भाष्य में दिया उच्यते सत्य समाविष्ट यदा शक्ति न सत्य के आत्मा अनात्म विवेक विज्ञान हेतु न सत्य गुण आत्मा अनात्म विवेक विज्ञान का हेतु उससे समाविष्ट का तो संव्याप्त संयुक्त सत्य गुण उद्वत हो जाता है तब देश नहीं करता है अथा प्रीत नहीं करता है साम्य में अथवा नित्य नहीं दिखा ठीक है असौरती भाषा में दिया असैव तो मेधावी इसलिए मेधावी असैव का अर्थ करते टीका में तो यथार्थ ग्रहण सामर्थ्य के अर्थ असैव का अर्थ समुद्बुद्ध इसका सप्तगुण उद्भुत हो गया सप्तगुण क्या है यथार्थ ग्रहण सामर्थ्य पाठ है यथार्थ ग्रहण सामर्थ्य समाविष्ट समर्थन सामर्थ्य यथार्थ ग्रहण सामर्थ्य समाविष्ट यथार्थ ग्रहण का सामर्थ्य तत्व सत्य से युक्त होने से मेधावी है तो यथार्थ ज्ञान हो जाएगा अगर तो मेधावी मेधया आत्मज्ञान लक्षण या प्रज्ञया संयुक्त ये मेधावी मेधा से असमय मेधा सजगिनी मेधावान तद्वान मेधावी मेधा आत्मज्ञान लक्षण प्रज्ञा प्रज्ञा से युक्त मेधावी और मेधावी से आगे छिन्न संशय छिन्न संशय में तो वो विसरित छिन्न संशय तो क्या है मेधा भी उनसे छिन्न संशय होता है छिन्न संशय क्या है छिन्न अभिव्यक्त तो संशय यश्य जिसका अभिव्यक्त संशय नष्ट हो गया आत्मस्वरूप अवस्थान में परम निश्चय साधनम नान्य किंचित निश्चय न ऐसा निश्चय हो गया आत्मस्वरूप अवस्थान में परम निश्चय साधन मोक्ष का साधन निश्चय पूरा निश्चय से मुख्य साधन है आत्म स्वर्ग अवस्था नहीं नान्य किंचित अन्य कुछ नहीं मुख्य का साधन ऐसा निश्चय छिन्न संशय ये अधिकारी अधिकृत पुरुष ठीक है परम निश्चयतम सत्य के साधन निश्चय से मुख्य परम कुशल उसका साधन सम्य ज्ञान में वैसी योजना सम्य ज्ञान है न व्यक्ति बिना श्लेते न उत्तम अर्थम संक्षिप्त अनुबदत न व्यस्तीत के द्वारा जो अर्थ कहा गया संक्षेप कर कहते ये अधिकृत पुरुष पूर्वोक्त प्रकार न कर्म योग अनुष्ठान न क्रमेण संस्कृत आत्मासन जन्मादि विकार रहित निष्क्रिय आत्मान आत्मतन संबुद्ध सर्वकर्मा मनसा संयस्य नैव पूर्व न कार्यन आसीनो नष्कर्म लक्षण ज्ञान निष्ठा अश्नते इतत पूर्वोक्त कर्म योग से प्रयोजन अनैन श्लोक न उत्तम ये संक्षेप कर बताते जो अधिकारी पुरुष प्रकार है न कर्मयोग अनुष्ठान कर्मयोग अनुष्ठान करता है नित्य अनित्य कर्म करता है कर्तव्य इसी विधि से कर्म फलम इच्छा त्याग करके संगम करता तो क्रम संस्कृत आत्मा संस्कृत आत्मा अंतगण जिसका शुद्ध होता है क्रम से जन्मादि विक्रिया रहित निष्क्रिय आत्मान आत्मत संबुद्ध फिर अंतगण शुद्ध मन से वेदांत आदि श्रवण करके श्रवण मनन आदि आवृत्ति करके जन्मादि विक्रिया रहित निष्क्रिय आत्मा निष्क्रिय है क्योंकि इसमें कोई विक्रिया नहीं है ऐसे आत्मा को आत्मत संबुद्ध अहम अपनी ऐसे ज्ञान हो जाए हो जाता है ज्ञानी सर्वकर्माणी मन का संदेश जब ज्ञान हो जाता है संपन्न कर्म मन से त्याग करके पहले तो कर्म नित्य नित्य कर्म करता है अंतगुण शुद्ध होता है शुद्ध होने पर वेदांत श्रवण से ज्ञान होने पर फिर मनुष्य संपूर्ण कर्म त्याग करके नैव कुर्ब न कार्य न करता है न करवाता है ऐसे रहता है साथ में स्थिर हो जाता है न कर्म रक्षण ज्ञान निष्ठा है कर्म रहित ज्ञान निष्ठा को प्राप्त करता है ये पूर्वोत्तर कर्म योग का प्रयोजन इस श्लोक में कहा गया टीका में पूर्वोत्तर प्रकार पूर्वोत्तर प्रकार कर्मयोग अनुष्ठान पूर्वोत्तर प्रकार क्या है कर्म ही तत्फलित संगत्यागन कर्म और फल में आसक्ति इच्छा त्याग कर्मात्मनो योग से अनुष्ठान न संस्कृतात्मा कर्मात्मनो कर्मात्मनो योग से कर्म आत्मा से योग से योग कर्मात्मा सत्य कर्मात्मना कर्मात्मनो योग से कर्मात्मक योग से अनुष्ठान के द्वारा संस्कृत आत्मा शुद्धात्मा होता है अंतकरण क्रमेण क्रमेण कैसे श्रवणादि अनुष्ठान द्वारा सभादि अनुष्ठान अभिति के द्वारा कुटस्थम ब्रह्म प्रत्येक संबुद्ध जो सर्व विक्रिया रहित कुटस्थ निष्क्रिय ब्रह्म तो हम अपनी प्रत्यक्ष ज्ञात हो जाए ज्ञान होता है तब नैव पूर्व न कारण सर्वकर्माणी सम्यक मन से आश्चर्य सुखम परस्य निष्क्रिय तो हेतु माह परस्य निष्क्रिय कुटस्थ क्यों क्योंकि जन्मादि विकार रहित थे उक्त ज्ञानवत ऐसे ज्ञानी का सर्वकर्म त्याग द्वारा मुक्ति भाग मुक्ति भगत मुक्ति भाग मधु में प्रत्यय होता है मुक्ति भगवती के मुक्ति भाग मुक्ति को प्राप्त करता है इसको दिखाते सर्वकर्म का त्याग करके ज्ञान निष्ठा को प्राप्त करता है तो मुक्ति को प्राप्त करता है तो संशय ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः नो नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्ष